प्रजापति चरसी है तमेव प्रति हे प्रजा तुहे प्राण तू ही प्रजापति है तमेव गर्भे चरसी प्रति इच्छा तुम ही वास्तविक गर्भ में ही विचरते हो और तुम ही माता पिता के अनुरूप होकर जन्म लेते हो प्रति रूप रूप माता पिता अनुरूपम एवं जायसी प्रति अलग है जायसे अलग है तुभ्यम प्राण हे प्राण तुभ्यम वैवा प्रजा बलिम मरंदी तुम्हारे लिए ही ये समस्त प्रजा क्या कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के भोग प्रदान कर रहे हैं रोग रसगंध स्पर्शा विषयों का रूपये बलि उनके जो भेंट चढ़ा रहे हैं यह प्राण ही प्रतिष्ठती जो कोई प्राणों से प्रतिष्ठित है अभी अनेक प्राणों के प्रतिष्ठित है वे सब के सब प्रजा ये मनुष्य संपूर्ण प्रजाएं तुझे ही चक्षुराद इंद्रियों के द्वारा तत्त विषय रूप उपहार भेंट को प्रदान कर रहे हैं तो ये जन इंद्रियों के साथ भोक्ता रूप से स्थित है वह तु ही है क्योंकि यह प्राणी सह प्रतिष्ठसी क्योंकि तुम जो प्राण हो तुम ही हो वास्तव में जो इन प्राण आदि के साथ इंद्रियों के साथ में इस शरीर के वास्तव में प्रतिष्ठित हो यह प्रजापति रूपी सौ तुम जो प्रजापति कहा जाता है और भी प्राण की बिना नहीं है इसलिए भी वास्तव में तू ही है गर्भे चरसी तुम्हें गर्भे चरसी तुम ही वास्तव में जो है गर्भ में चरते हो गर्भ में विचार विचर रहे हो और मातुश्च प्रतिरूप हसन प्रतिजाय से और पिता माता के अनुरूप होकर के तुम पुनः पुनः जन्म लेते हो प्रजापति प्रागे सिद्धम तव मातृत्म सर्वदेह देही आकृति छदमना एक प्राण सर्वात्मा अस्सी इत्यर्थ यदि भी कह दिया था पहले ही प्रजापति ही फिर कहने क्या जरूरत गर्भी तुम्हें विचार सी प्रतिजा से कहने की जरूरत नहीं जो वही प्रजापति है और प्रजापति तो अनंत राम एक कौन भविष्यान प्रजा वही अनंत हुआ है दोबारा बात करने कोई जरूरत नहीं थी कहने का तात्पर्य सर्वात्मा प्राण है यह प्राण ही सर्वात्म स्वरूप धारण किया है यह स्थापना करने के लिए पुनः कथन हुआ है कोई बात बता रहे हैं प्रजापति देव प्रागे व सिद्ध प्रजापति होने के नाते पहले से सिद्ध है बात तब मात कृतत्व क्योंकि वही माता वही पिता वही सब कुछ है छांड में तो कहेंगे भी तुम माता तुम पिता सर्वदेह देह आकृति छत बना फिर भी सकल देह और देही की आकृति धारण कर उसी बहाने से उसी निमित्त से एक प्राणा तुम जो एक प्राण हो वही सर्वात्मा सी सर्वात्मा को प्राप्त हुए हो ये कहने के लिए बारम्बार उत्पन्नति का कथन किया गया अत तुभ्यम त्वदर्थम एवं यह मनुष्याद्या प्रजा मनुष्य आदि सकल योनियों में सकल प्रकार से विद्यमान जो प्रजा है वे हे प्राण चक्षुरादि द्वारा बलिम वरंती चक्षुरादि द्वारा वास्तव में जो है बले मने भेंट को चढ़ाते हैं कैसे अपने अपने विषयों को ग्रहण करना चक्षुरादि क्या करेंगे अपना विषय उसके लिए उनके पास जो वस्तु आपके पास वही है जो आप भेंट करोगे आपके पास मालपानी है तो मालपानी भेंट करोगे नहीं बस गाली गलौज है तो गाली गलौज का ही भेंट कर देते हो ये तो होता है इसके बाद जो है वही ना देगा दूसरा क्या देगा कहा से देगा जो है नहीं यही युधिष्ठिर ने कहा था एक बार जो है महाभारत में प्रसंग आया ना बहुत गाली दे रहा था दुर्योधन और चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा है अब कोई आया उसमें उस समय में उसने पूछा अरे भाई युधिष्ठिर तुम बड़े हो थपड़ रहा है चुका बड़े भाई होकर चुप रहते हो छोटा ऐसे मुंह चला रहा है तो कहते गालिम गाली गालिम तो और कहता है, है एक गाली का स्वरूप ही है इसका घर ही गालिया और दे रहे गाली तो हम क्या करें संस्कृत शब्द है गाली हिंदी में भी है संस्कृत शब्द भी है गाली होता ही आप शब्द के लिए प्रयोग गालिम गाली गालिम तो श्लोक ही है तो ये गाली स्वरूप ही है और सिर्फ गालियां ही हैं इसलिए गाली दे रहा अब मेरे जब मैं ढूंढू कहीं भी हमारे पास तो है ही नहीं तो मैं क्या करूँ ये लोग तो मेरे को कहते धर्म स्वरूप है धर्मराज है क्या है धर्मराज है कहते मैं क्या करूँ मेरे पास तो धर्म है मेरे गालियां तो वो है नहीं तो मैं कहा से दू और थप्पड़ भी नहीं मार सकता वो तो अधर्म का काम गुस्सा करना धर्म में तो होता ही नहीं धर्म में तो शांति है अधर्म में ना काम क्रोध मोह लोग सब तो वहां का खेल है यहाँ तो सब दया क्षमा शांति यही सब इसके अंदर आता है और वो स्वरूप माना मैं मैं कैसे मारू पीटू उसको वो तो हो ही नहीं सकता है तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अब इंद्रियों के पास है क्या माल पानी चक्षु के पास रूप है है ना जो जो रूप देख रहा है वो थोड़ी जगह प्राण को दे देता है श्रोत में जो शब्दों को सुन रहा है वो सबको ले जाकर प्राण को दे रहा है इस प्रकार से सभी इंद्रिया अपने अपने विषयों को प्राण को अर्पण कर रहे हैं क्यों उनके पास वही है दूसरा चीज तो है ही नहीं यह प्रजा कहते इसीलिए कभ्यम तदर्थम मनुष्य प्रजा हते इत्यादि बलि मरंती युक्तम ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा गया इति युक्तम इष्टम ही लोग नाम उपकर तो पूज्योत्तमिता मंडलेश्वराणाम नाम युक्तिम मध्य टिप्पण कार जो है मंडलेश्वर उनको घुसा दिए यहाँ पर खुद मंडलेश्वर थे ना विष्णु देवान गिर खुद भी तो मंडलेश्वर थे इसे दृष्टम ही लोग है बहुना उपकर तो पूज्यत्म बहुतों को उपकार करने वालों के प्रति पूज्यत्व इस लोक में तो देखने को मिलता ही है यथा मंडलेश्वर जैसे कि मंडलेश्वर लोग यहाँ मंडलाराम ईश्वर थे मंडलेश्वर ये मंडलेश्वर नहीं पदावच्छिन्न विशेषण वाला नहीं हर राज्य का अपने ये जो राज्य है उत्तरांचल राज्य मुख्य रूप से दो मंडलों में बटा है गढ़वाल मंडल तो कुमाऊ मंडल है ना गढ़वाल मंडल विकास निगम पढ़ते हो ना इस, इस मंडल का जो अधिपति होगा उसको कहेंगे मंडलेश्वर जैसे ग्राम प्रधान होता है नहीं ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान हो गया नगर पंचायत में नगराध्यक्ष हो गया नहीं नगर पालिका में भी नगराध्यक्ष हो गया इन सकल के ऊपर भी चलने वाला जिलाध्यक्ष होता है पूरा जिला पर चलने वाला अनेक जिलों पर चलने वाला मंडलाभियुक्त आपका है मंडलायुक्त नहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो डीएम हो गया ना नगर मैंने जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष को ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, तो हाँ? मतलब है? नहीं नहीं ये उसे ये एक्चुअल कमिश्नर कमिश्नरी का क्षेत्र बनता है ना मंडल का कमिश्नरी को जिसमें कई जिला मिलते हैं कई जिला मिल करके एक मंडल होते एक कमिश्नरी बोलते हैं उसको उसको मंडल आयुक्त कहा जाता है संस्कृत भाषा में भी हिंदी में मंडल आयुक्त से बोलते हैं फिर उसके ऊपर होता है मुख्यमंत्री सब मंडलों का अधिष्ठाता बनता है की ये व्यवस्था है ना पहले जन मंडल से प्रभाव कोई नहीं तो राजा ही था और राजा कौन है अपराध यादव तो अब तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक है ना सीढ़ियां बहुत बना रखे हैं प्रजातंत्र है यहाँ तो सीधी सी बात है कि मंडल आयुक्त जैसे मंडलेश्वर लोग होते मंडलेश्वर वाले उपाधि वाले नहीं लेना प्रसिद्ध यहाँ पर दृष्टांत उससे दिया हो गया वो बहुतों को बहुत चिल्लाओं को उपकार करने वाला है इसलिए वह ज्यादा पूज्य हो जाता है मंडल मंडलायुक्त आ जाए और जिलाध्यक्ष खड़े होकर सलूट मारेगा या नहीं क्योंकि उसके अधीन ये चार पांच है जिलाध्यक्ष लोग जनपदाध्यक्ष होते हैं तो इसी प्रकार यहां पर व्यवहार है कहा रहे इसलिए युक्त ही है यदि भेंट उनको चढ़ा है तो कोई गलत नहीं है कोई गलत उचित भोक्ता ही यथात्म तवैव अन्य सर्वम भोज कारण यह प्राण ही वास्तव में भोक्ता है सकल अन्न का भोक्ता सकल इंद्रियों का विषय रूपी अन्न का भोक्ता प्राण ही है अतः तवैव अन्य सर्वम भोज प्राण के लिए ही है अतः प्राण का ही ये सारा जगत भोज्य है क्यों गौण प्रतीक पर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं देवानाम शिवन्नितम पितृणाम प्रथमा स्वधा ऋषीणाम चरितम सत्यम अथर्वांगी रामसी देवताओं के अंदर भी आप ही श्रेष्ठतम वन्नी है श्रेष्ठ वन्नीतम है देवानामसी वन्नीतम हो देवता मन इंद्रादियों में भी आवनित अविष्य को प्राप्त कराने वाले श्रेष्ठतम अग्नियों में से अग्नि देवता का स्वरूप है प्रत्येक अग्नि का भी अलग अलग अभिमानी देवताओं में अग्नि देवताओं में भी अनेक है जो हविष को वाहन करना विवाह रूपी अग्नि देवता जो है वो आप ही है पितृणाम प्रथमा स्वधा और पितरों के लिए तो नांदी मुख श्राद्ध आदि जो किया जाता है उनमें तो कोतराम के लिए आप जो प्रथम जो है स्वधारूप नाम से जो प्रसिद्ध है वो आपका ही स्वरूप है विशेष विभूतियों को गिनाया जाए यद्यपि सर्वम प्राणायाम एवं सब कुछ प्राण रूप ही अत्ता रूप ही सिद्ध कर चुका है भोक्ता है पूर्व में था ना भोक्ता ही यथत्तम तवई अन्य सर्वम भोज्यम तो राशि के अंत में कहा गया था फिर विभूति विशेषण को लेकर स्तुति किया जा रहा है श्री राम चरितम सत्यम ऋषि राम चरितम सत्यम अथर्वा अंगिरसाम असी अथर्वा श्रुति के अनुसार भी आप वास्तव में क्या है अंगों के रस रूप ही है और देह धारण आदि के लिए सत्य आचरण करता हुआ ऋषियों का स्वरूप भी आप ऋषियों के अंदर जो सत्य चरित्र सत्य आचरण रूपा जो चीज है वह भी आपका स्वरूप है किंचा भाषिका मन इंद्रादी नाम अस्य मन भवसी तम क्या हो वन्यतम हविष्याम प्रापितम हविष्यों को प्राप्त कराने वाले हो पितृराम नांदी मुख्य श्राद्ध या पितृप्य दिया गए नांदी मुख्य श्राद्ध प्रकरण में जो दिया जाता है क्या स्वधा अन्नम स्वधा रूपेण दिया जाता है अन्न है सा देव प्रदानम अपेक्ष प्रथमा भगवती वह जो है देव प्रदान करने की अपेक्षा देवताओं को जो दिया जाता है जो उससे पहले दिया जाता है ना नांदी श्राद्ध का पूर्व में हो जाता है इसे देव प्रदान की अपेक्षा से उर्मान के कारण से वह प्रथम शब्द से भी उसी स्वधा रूप को कहा गया वह अभी आपका स्वरूप है तस्या पितृभ्य प्रापिता तमेव इत्यर्थ है उस स्वधा रूप को भी पितरों तक पहुंचा कर उन्हें प्राप्त कराने वाले आप ही हैं किंच ऋषीणाम चक्षुरादीनाम प्राणानाम अंगिरसाम अंगिरस भूतानाम अथर्वणाम तेषाम प्राणो अथर्व शब्द है किंच ऋषीणाम है चक्षुरादि किशोरी गच्छी ऋषि जो स्व ऋषि की ओर दौड़ने वाले हैं इसलिए इंद्रियों का नाम रख दिया ऋषि इनके द्वारा जो सत्याचरण होगा उसके साथ जोड़ेंगे उससे पहले अंगिरसाम भी इनको विशेषण दिया हुआ प्राणाराम नाम प्राणानाम वो अंगिरसाम अंगी रसभूता नाम अंगी रसाम कर क्या है अंगी का जो अंगिना रसभूत बाद अंगी का सार ये अंगी जो प्राण है शरीर है शरीरी ये शरीर के विभिन्न अंग है उसका अंगी कौन होगा शरीरी जीवात्मा उसका सार्वत प्राण ही इतना प्राण गया तो अंगी जीवात्मा चला गया प्राण है तो जीवात्मा तो ठीक है तो इसलिए कहते हैं वो अंगी का प्रसभूत है क्यों ये शरीर को पुष्ट करने वाला होने से शरीर भी अंगी है देही भी अंगी है अंगन के दृष्टि से हाँ पैर सब अंग कहा दोगे उसका अंगी कौन होगा पूरा शरीर इसको पुष्ट करने वाला है का और अंगी कौन है शरीर भी अंग है जिसका इंद्रिया भी अंग है जिसका ऐसे दे इसे जीव प्राधारण सूत्र ही बना दिया अपना पानी जन उपास पाठक जीव प्राण दोनों हिसाब से कह दिया इन्होंने इसलिए कहते हैं प्राणानाम चक्षराजराम चंगी रसाम अंगी रस भूताराम अथर्वाम क्योंकि उनको अथर्व क्यों नाम बढ़ेगा क्योंकि प्रश्रुति करिए प्राणो व अथर्वा कर अणवा अतः श्रुत है प्रमाण है अथर्वणा अंगी अवयवी देहा तस् रसभूताराम सारभूताराम ऐसा व्यर्थ किया देखो अच्छा टिप्पणी चरितम अवायी मूल भाष चेष्टितम सत्यम अवितम चरितम चेष्टितम किम चरितम किम चेष्टितम सत्यम एवं चेष्टितम अविदितम देह धारणादि उपकार लक्षण देह धारणादि जो उपकार रूप जो चेष्टा है वो आपके अव्यथक धारित है वह भी तमेर असी वह भी आपका ही स्वरूप है उपकार श्री धारण आदि रूपी उपकारक जो आचरण है और आचरणात्मक जो सत्य वह भी आप ही है किंच इंद्रस्तम तेजसा प्रदोषी परिरक्षिता तमंतरिक्षे चरसी सूर्यस्तम ज्योतिषा पति रुद्रासी इंद्रासी कहते हैं कि भाई इंद्रात्म प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता हे प्राण हे प्राण कम इंद्रोसी तो अपने ही तेज से क्या है इंद्र हो परमेश्वर हो तो इंद्र कौन से राजा इंद्र नहीं लेना साक्षात परमेश्वर ही लेना क्योंकि भले देवाना मनी तो मका चुके जैसे देवताओं का राजा इंद्र को नहीं ले सकते आप और तेजसा रुद्रोसी अपना दिव्य तेज से आप जगत को संहार करने वाले कृत्र रूप भी हो परिवक्षिता चसी अच्छा तेजसा और अपनी ही तेज से जो है आप इस जगत के पालन करने वाले भी हो तम अंतरिक्ष चरसी आप जो है अंतरिक्ष में सदा आगमन करते रहते हैं और ज्योतिषाम पति सूर्योपित्व में वर्षी और आप ही समस्त ज्योतियों का अधिपति ज्योतिर्मय पदार्थों का अधिपति सूर्य ही है इंद्राम ने परमेश्वर तम हे प्राण इंद्र कार कर दिया परमेश्वर और हे प्राण संबोधन प्राण शब्द हे प्राण हो तेज सामने वीर अपने स्व तेज से स्व सामर्थ्य से स्वीर से आप क्या है रुद्रोशी संहरण जगत जगत को संहार करने वाला आप रुद्र ही है सिद्धाउच परिसमता काल में आप क्या है परिरक्षिता परिमने समन्ता सर्वदा सभी ओर से सब प्रकार से आप ही इसके रक्षक हैं पालन करने वाले हैं इति परिरक्षिता तमेव जगत सौम्य रूपेण अभी लेकिन वहां का रुद्र रूप था ना अब यहाँ सौम्य तेज तो तेज ही है सामर्थ्य है एवं तो सामर्थ्य पहले क्या था उग्र रूप था पहले नाश करने के लिए और सती काल में सौम्य रूप से उसका जो है संभाल रहे हैं तो उग्र रूप इसलिए ही है आज जितना भी चिल्लाते है तो मौत आते तो प्राण आप पर दया नहीं करते निर्दय भाव से उठ करके चलते और आपको क्या कर सकते पीछे पीछे आपको चलना पड़ेगा और जो स्थिति काल में देखिए आप बैठे हुए हैं प्राण आपके कितना शांत है प्रसन्न है और बड़ा आनंद से आप सुन रहे हैं है कि नहीं सब क्रियाकलाप स्थिति काल में हो रहा है और इस समय उग्र हो जाए थोड़ा सा उग्र हो जाता तो भी क्रोध के मारे आदमी लाल लाल हो जाता है नहीं आग बबूला बन जाता है थोड़ा सा प्राण बिगड़ जाए तेज हो जाए और यह तेज ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा नहीं और इतना हल हो भी सकता है हार्ट अटैक हो जाए लखवा हो जाए जब प्राण शांत होता है तभी सबका जिंदगी ठीक ठाक चल रहा है थोड़ा सी से उग्रता आ जाए तो खतरे में पड़ जाती है स्वयं के लिए भी दूसरों अब पूर्ण गया उग्र हो जाएगा फिर तो, तो कहना आपको कुछ भी नहीं सुनेगा कोई दवा पानी काम नहीं करेगा सीधा ही चल पड़ेगा कुछ नहीं सुनता फिर किसी का इसलिए कह दिया है वहाँ रुद्र रूप होने के नाते वीर रूप सामर्थ्य जैसे था उग्र सामर्थ्य था और यह सौम्य रूप तेजसा तम अंतरिक्षे अजस्वम चरसी आप अंतरिक्ष में जन निरंतर चलते रहते हैं स्वागमन करते हैं क्यों कर रहे हैं जी उदयास्त में आते सूर्यस्तमेवा सर्वेशा ज्योतिषाम बधि आप जो है अंतर से निरंतर किस रूप से चल रहे हैं स्वरूप पे न चल रहे हैं और स्वरूप क्यों कहते उदयास्तमयाभ्याम कैसे पता चल रहा है सूर्य चल रहा है कभी उदय और अस्त के माध्यम से अनुमान कर लेंगे उदयास्तमयाभ्याम सूर्य हमें जो सर्वेशम ज्योतिषाम पति ही आप जो सगल ज्योतिर पदार्थों का प्रतिभूता सूर्य ही है जो उदय और अस्त के माध्यम से हम आपके निरंतर गति को सूर्य रूपेण भी आपके निरंतर गति का हम अनुमान कर सकते हैं यदा तम विवर्षस्यथेमाणते प्रजा आनंद रूपातिष्ठन्ति कामायानम भविष्य हे प्राणा के प्रजा जो आपकी प्रजा है प्राण से अलग पद होनी चाहिए प्राणदेव प्रजा छप गया हे प्राण हे प्रजा यदा तुम अभिवर्षसी अथ इमा प्रजा आनंद रूपा सिस्टम जब आप वर्षा किया करते हैं तब क्या होता है उस वर्षा के आनंद ही इस आपके समस्त प्रजाएं बड़ा आनंद रूप को प्राप्त कर जाते हैं आनंद रूप से रहने लग जाते हैं क्यों क्योंकि उन्हें बड़ा इसी बात की खुशी होती है अन्नम कामाय भविष्य नीचे से हमारे कामनाओं के रूप अन्न खूब होवेगा ऐसे खुशी के कारण से प्रयोग नहीं होने से पहले ही वर्षा बादल आदि को देखते ही से लगते हैं खुश हो जाते हैं यथेच्छा अन्न प्राप्ति होगी कामाय यथेच्छा ताजत्व चतुर्थी है ना इसे जैसे तो पूर्वगम में उदाहरण पर्याप्त मिति निर्गलित पर्याप्त ये अर्थ उसमें निर्गलित टिप्पण कार ने कहा है यथा यदा पर्जन्य भूतवा अभिवर्षति भाष्य यदा पर्जन्य भूतवा अभिवर्षसी जब आप पर्जन्य भाव को प्राप्त करके बरसाने लगते हैं तुम तब अथ तदा अन्नम प्राप्य उसी समय जो है अन्न को प्राप्त करके इमा प्रजा प्राण दे प्राण चेष्टा कुरंती ये जो प्रजा है या क्रिया पर भाषा ले रहे हैं और कई टिप्पण कार करते ऐसा भी प्राण ते इमा तो प्रजा प्राण दे प्राण चेष्टा कुरंती अथवा देखो दे रहे स्वयं भाषा मूल में ही दे रहे प्राण ते मने तवा हे प्राण संबोधन अलग कर तो मैंने कहा ना आपकी जो प्रजाएं आप ही के स्वरूप है आपने ये सब बनाया है क्योंकि में करना पड़ेगा क्योंकि आणती है ना प्राणति प्राणति प्राणंती बनना चाहिए प्राणत्य कैसे बन गया अग्रमल कैसे हो जाएगा या तो व्यक्ति बोला अगर कोई रास्ता है छांदस आदरवद मान लो महोदय है प्राण तो अलग कर दो सबसे बढ़िया स्वयं जैसे हो जाता ना ते माह तो कहते हैं कि भाई महा प्रजा स्वात्मबोधा तत् अन्य संवर्धिता तत् अभिवर्षण दर्शन वाक्य क्योंकि जो आपके आप स्वरूप है सारी प्रजाएं क्योंकि प्राण से भी नहीं नहीं समस्त रूप का प्राण ही है कहा चुके इसलिए कहते हैं आपका आत्मभूत है स्वात्मभूत है सब प्रजाएं तद अन्न संवर्गा आप ही अन्न रूप सबको पुष्ट भी कर रहे क्योंकि वही अत्ता वही अन्न है ना एक ही प्रजा वजता अत्य अन्न भाव को प्राप्त तद अन्न संवर्धिता और तद अभिवर्षण दर्शन मानते इसी कारण से आपके अभिवर्षण क्रिया का दर्शन मात्र से ही आनंद रूपा सुखम प्राप्त यह सत्यातिष्ठ थी सुख प्राप्त हुए के समान ये लोग रहने लगते हैं यदि सुख प्राप्त कहा हुआ अभी वर्षा तो हो ही रही है फसल कटेगा तब ना असली सुख है, है? फसल खूब हो जाए बिना पीछे हो सकता है रोग लग जाए कुछ भी हो जाए या इतना ज्यादा बारिश हो गया बाद में सब डूब के खत्म हो गए या एक बारिश के बाद बारिश ही बंद हो गया सब सूख जाएंगे कुछ भी हो सकता है लेकिन भगव रजा होते ही सब लोग खुशी तो करते ही है इसे कहते ईव कामाय इच्छा तो वंदम भविष्य इत्यभिप्राय क्योंकि आप इच्छा के मुताबिक यथेक्ष अन्न प्राप्ति होगी ऐसे मान करके वो खुशियां मनाते हैं किंच व्रात्यस्तम विश्व सत्पति वयम माध्यस्य दातार पिता तम मातरीश्वर व्रात्यस्त हे प्राण यहाँ गलत कर दे हे प्राण तुम जो हो गज हो संस्कार करते अभाव में संस्कार ही न व्रात्य भी तुम तो ही हो क्यों क्योंकि उसको प्राणों के संस्कार कौन करे प्राण का को कोई संस्कार कर सकता है क्या प्राण का आयाम होता है प्राण की शुद्धि करेंगे प्राण तो स्वतः शुद्ध है उसे कोई शुद्ध करने की जरूरत नहीं तत्व शुद्धि वर्णन आएगा चित्त शुद्धि का वर्णन आता है लेकिन प्राण शुद्धि का वर्णन कहीं नहीं आता उसे शुद्ध करने की जरूरत ही नहीं वो अपने आप में इतना शुद्ध है उसे शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं वन्यता मिश्रा का वादरी स्वरूप है वो सबको शुद्ध करने वाला उसको कौन शुद्ध करे पावक स्वयं स्वरूप है वो तो इसलिए कहते हैं आपका संस्कार ही हो नहीं सकता इसीलिए और जो संस्कार ही हो तो उसका क्या नाम है इसलिए हे प्राणा आप भले व्रात्य लेकिन अवराज्य हम जब व्यक्ति को बोलेंगे तो निंदा परक हो जाएगा एक क्या आदमी है ये तो संस्कार क्यों नहीं मैंने वो घटियापन को प्रकट करता है लेकिन यहाँ स्तुति के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि महान है आप जिसके लिए कोई संस्कार ही जरूरत है फिर भी अपने आप में पवित्र है ठीक विपरीत हो गया प्राप्त एक ऋषि ही आप आतर्वणों का एक ऋषि नामक अग्नि होकर अत्ता विश्व से सर्वरी ये अथर्वेद का है ना उपनिषद इसे अथर्वेदियों क्या है एक अग्नि विशेष का नाम एक ऋषि नामक अग्नि होता है उस एकर्षी नामक अग्नि को धारण करने वाले ही अथर्वेद के अथर्व शाखा का अधिकारी होते नहीं तो नहीं हो सकते आगे आएगा मंडक उपनिषद में बड़ा कठिन तपस्या है मुंडन करके केवल चोटी रखा है और मिट्टी के बर्तन में आग जला करके उस आग को खोपड़ी पर रखना है एक साल भर ऐसे रखना केवल जब शौच जाएंगे और लघुशंका करने जाएंगे उस समय उतार देना है भोजन के समय उतार सकते हैं आप सोते वक्त उतार सकते बाकी सब समय हमेशा सर पर रहना और आपको सीधे ही बैठे रहना यूं करे तो गिर जाएगा और उसमें कोयले डालते रहिए उतार रही जलते रहे हो क्या कठिन काम तो मुंडक शाखा का अध्ययन करने वाले लोग कोई तपस्या करते थे उसी प्रकार से अथर्वेद की अन्य शाखा वालों के लिए भी एक अग्नि विशेष का नाम दिया गया एक नामक अग्नि वह अग्नि का स्वरूप आप ही है और अत्ता विश्व सभी प्रकार के हविषों का भोगता है खाने वाले आप इसी विश्व का सतपति ही सत्य रूपा पति है सत प्रतिष्ठ स्वरूप प्रतिपति है वयम आद्य दातार और आज जो है हम सब आप ही के लिए ही भक्ष्य देने वाले होंगे वयम आद्य जो खाने योग्य मैंने अद्य ना अद्य का आद्य का दिया गया आद्य मैंने पहला अर्थ नहीं जो कुछ भक्ष्य खाने योग्य उनका हम अब आज क्या हम कर रहे हैं आपको देने वाले हैं वयम दातारा हम आपके लिए देंगे क्या देने जा रहे हो आप दाता बन रहे हो कहे जो कुछ भी आती है हमारे सामने भोजन में आता है वो सब कुछ हम आप प्राण को ही खिलाते हैं यह पंच प्राणावती करते प्राण ऐसा पान ऐसा व्यान ऐसा मान ऐसा उदाहरण ऐसा इसलिए किया जाता वो भी फिर कहेगा चल आहुति कैसे दोगे खाना खिला दोगे नंगा रखोगे है नानंदा होने के लिए पहला भी चल और बाद में भी जल अमृत उपस्तरण वसुस्वाहा अमृत पिलान वसुस्वाहा कभी नहीं करते जल पिया जाता है वही उनका आसन हुआ है और वही उनका उत्तरी है जल पैसा वैसे अन्य उपनिषद में आएंगे पिता तम मादरेश्वर और अहे मादरेश्वर संबोधन है आप ही जो ना हमारा पिता है तुम न पिता हे मादरेश्वर अलग है एक साथ छाप देते बड़ा मुश्किल हो जाता पाठ में माधुरेश्वर एक तो कर दिया हे माधुरेश्वर नम पिता आप जो है ना हमारे पिता ही जन्मदाता आप ही प्राण है तो शरीर में हमारा जन्म होगा और प्राण ना हो तो शरीर में जन्म का अगत रहे तो मरा ही पैदा हो गया नहीं करते बहुत सारे कर्म मरे पैदा हो जाते अंदर ही मर जाते इसलिए आपके जन्म का कारण ही कौन है असलियत में प्राण है गर्भ नहीं गर्भ से क्या फायदा गर्भ से बाहर मुर्दे निकले तो क्या फायदा होता इसलिए प्राण ही हमको गर्भ से बाहर आते तो रहा उसके अंदर तभी तो हमको जन्म हुआ तभी हम कह रहे हम जिंदे हो गए अमुक जन्म हो गया हमारा तारीख को हुआ तिथि को समय से बता दोगे इसलिए कहते हैं वास्तव में आप ही हमारे पिता हैं किंच भाषिका प्रथम जत्ता अन्य से संस्कृत अभाव आप प्रथम जय सर्वप्रथम आप ही उत्पन्न हुए अन्य संस्कृत हो तो, इसलिए आपका संस्कार कौन दूसरा करेगा दूसरा कोई संस्कार करने वाला नहीं होने से से असंस्कार रहित हो अतः तम देव शुद्धा है निंदा वर्ग नहीं देव शुद्ध भी अभिप्राय आप स्वभाव से ही शुद्ध है ये इसका अभिप्राय प्राण संबोधन है एक ऋषित्वम अथर्वराणाम प्रसिद्ध एक नामा अग्नि सन अत्ता सर्वाभिषा अथर्व वेद के अनुयायियों के समस्त जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य होंगे उन लोगों के अंदर तो सुप्रसिद्ध एक नामक अग्नि होकर आप ही सगल हविष का उन लोगों के द्वारा प्रदत्त सगल हविष का अत्ता है और तमेव विश्व सर्वस्व सतो विद्यमान से पति सदपति ही आप इस विश्व का कैसा विश्व है ये विद्यमान सर्वस्व विश्व से पति साधुवा पति ऐसा ना की कर दो साधुवा पति सपति ही तेल वेशाण कर देना तो सार्वत्रिक है ना सतपति ही आप कर दे सबको सतः पति और सता विशेषण कर दिया विश्व सता विश्व पति एक देशन में कैसे कर दिया पदार्थ पदार्थ नेतृत्व तो तो देश है ना अरे मणिनाम मणिनाम त्रयम है ना मणित्र जैसे कर लो यहाँ पर एक देशान भाई लेकिन यदि त्रयाणाम अवयवानाम समुदाय समूह अर्थ नहीं आपने त्रय अयच प्रत्यय हुआ त्रय को और त्रय बना मुनिनाम त्रयम लेकिन त्रयाणाम मुनिनाम अब ऐसा कर देते कि नहीं करते एक त्रय में जो विशेषण देता था उसको अन्य पदार्थ के साथ अन्वय करके और अवयवार्थ को परित्याग करके आपने अलग अलग करके टुकड़ा करके अपने व्याख्या किया वैसे कहीं कहीं होता भी है तो उस पक्ष को लेकर पहला व्याख्या कर दी और लेकिन वो सार्वत्रिक नहीं हो सकता है वहां अनेक कारण लेने पड़ते हैं तो ये नहीं नियम है प्रथम कारण सभी आप पदार्थ पदार्थ न तो एक देश है ना इन नियमों को देखते हुए कोई काम देना पड़ेगा वहां पर आप यही कहते हैं ये संख्यावाची है है ना और अवयवी रूपये कोई पदार्थ ना हो तो संख्या का अनुभव जैसे होगा पिछले पार्टी का अनुवय हमको करना पड़ेगा जैसे अरुणाधिकरण में आपने किया यही दृष्टान्त दिया गया है सिद्धांत गंभीर मंगलाचरण की टीका में हमने अपने का गवासम किरणाती में अरुणया किरणाते साक्षात हमें करने में असंभव है क्योंकि लाल रंग से खरीदो और लाल रंग से कैसे खरीदूंगा जब भी रंग लाओगे तो कोई मिट्टी उट्टी होगी है ना पाउडर होगा द्रवित होगा बिना उसका केवल लाल रूप लाल रंग से कोई चीज हम ला ही नहीं सकते तो रंग के साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता बिना द्रव्य का अरे अरुणया को हमने गवा के साथ विशेषण विशेषण करके उत्तर पश्चात अरुणा को क्रीनाति के साथ अनुभव किया गया परंतु रहा साक्षात नहीं हो सकता उसको पार्श के कारण वही कहते मीमांसा दर्शन तो उसी प्रकार यहाँ पर भी पार्षिक अनवय कर दीजिए स्वतः विश्वसीय पति अथवा साधुर्वा पति पति ही सीधे कर लो झंझट खत्म संपूर्ण विश्व का आप वास्तव में सत्य पुरुष सत्य पालन करने वाले सत्य के परिपालन कराने वाले पति है स्वामी है ऐसे कह यही तो, सत्य का पालन कराने के लिए पुलिस क्या कर पकड़ कर पीटते हैं खूब ऐसा पीटते हैं और प्राण फड़कते तड़पेगा तड़पते सच बोल देगा सत्य का पालन करा दिया ना क्यों किया अरे प्राण मरने का डर के मारे हो गया प्राण छटपटाने लगता है तो डर के मारे वो सच बोल देता सच बोलवाने के लिए सब प्रताड़ना की जाती है और प्रताड़ना करने का तात्पर्य क्या उसके प्राण पर आहत पहुंचाना है तब आपको एक बोलेगा इसलिए उसका नाम सतपति है सत्य का पालन कराने वाला है वयम पुनराद्य मैंने तवा आदनीय रहो वयम अद्य वयम आद्य समय तब आदनीय आपके द्वारा आदनीय जो कुछ भी है उन सारे चीजों का क्या आविष्कार दाता रहा इसका हम दाता है तुम विदा मातृश्वाम हे मातृशन न मन अस्मा हमारे आप ही वास्तविकता है अथवा वहा मातृश्वना वायु वायु का स्वरूप आप ही है माधुर्य को वायु करनी पड़ेगी मातृश्वरा शक्ति अर्थ लेंगे एक पद लेंगे तो इसलिए तस्चा सर्वस्व जगत पितृत्व सिद्धम जिसमें आप महावायु स्वरूप ही है अतः वास्तव में समस्त जगत का ही पिता ऐसा व्यर्थ लिया जा सकता है किम बहुना और अधिक क्या कहा जाए आपके विनय शरीर अमंगल हो जाता है आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस शरीर को छोड़ के न जाए जैसे याद तनुर्वाच था या श्रोते या चक्षुषी या च मनस संतता शिवांता कुरुमोत्क्रमी ते या हो तो तेरा जो स्वरूप इस वाणी के अंदर हम देख रहे हैं ते वाची या तनु आपका इस वाणी में जो स्वरूप मैं देख रहा हूं और आपका जो तनु स्रोत आपका जो शरीर चक्षु में आपका स्वरूप है तनु से स्वरूप लेना है वक्ता के अंदर जो आपका स्वरूप है श्रोता के अंदर जो आपका स्वरूप है दृष्टा के अंदर जो आपका स्वरूप है और मनता के अंदर मनन करने वाले इस मन के भीतर में भी जो आपका स्वरूप है संतदा इस प्रकार से प्रत्येक क्रियाकलाप में जो व्याप है और उसे आप क्या कहें शिवाम ताम करो उसे आप शांत रखो और मां उत्क्रमी ही आप उत्क्रमण ना करें क्योंकि ताम तनु तनु का ही काम कर उस शरीर से आपका स्वरूप को आप सवाल करो आप कल्याण रूप में बनाए रखे शांत रूप बनाए रखे उसको लगा दे के ना चल पड़े यहाँ से फिर यहाँ चल पड़े सारा काम बिगड़ेगा माओक्रमी इस तरह यहाँ से मत जाइए हो वाच्य प्रतिष्ठिता वक्तृत्व चेष्टा चेष्टाओं यह जो आपके तनो कहा है वाची प्रसिद्धा वाक्य प्रसिद्ध केन रूपेण प्रतिष्ठित है एक तो वक्तृत्व रूपेण और वह चेष्टा कुरती वजन चेष्टा कथन रूप करना और भी बोलना और भी चेष्टा करते हुए जो आपका सभी वाणी में वक्तृत्व स्वरूप आपका टिका हुआ है उसको बने रहने देना मैंने हमें इससे हमें गुंगा मत बनाओ प्राण से प्यारता है कभी हमको गुंगा न बनाए आप जबान से पैर निकल जाए तो गूंगे हो जाएंगे बोलेंगे कैसे आप कान से पान घटते जाते हैं मिशन लगाना पड़ जाता है कान तक पहुंचाना है ना शब्द को कान तो पीछे चला गया अपने जगह से तो वहां तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जाती है कहां तक पहुंचाओ अंत ऐसा और चला जाता है जितना बड़ा मिशन डालो कोई फर्क नहीं पड़ता बहरा हो जाता है इसी प्रकार से प्राण जो है चक्षु में जो प्रतिष्ठित है वो अपने स्थान से आगे पीछे हट जाता है तो जैसा करना पड़ जाता है आप इतना पीछे हट जाए या स्वस्वरूप में हो जाए गोलक को त्यागा ही होगा तो आदमी अंधा हो इसी प्रकार हर एक इंद्रियों में समझ लीजिए जो इसके अंदर वह क्रिया को करता है तो कर्तृत्व का भान हो रहा है वह प्राण का ही दर्शन भी क्रिया करते हुए तो दृष्टित्व भाव है वगनों भी क्रिया करते हुए जो वक्तृत्व भाव है श्रवण भी क्रिया करते हुए जो श्रोतृत्व भाव है यह सात स्वरूप प्राण का ही है याच होते याच चक्षुषी याच मन संकल्पादि व्यापार है ना संकल्पादि व्यापार करता संकल्प कर्तृत्व जो आया है मंत्रित्व आया हुआ है ये भी सारा वास्तव में क्या है संतता समन्वता जो इस शरीर के अंदर संतत निरंतर समृगत रूप में हमारा अनुभव हो रहा है वह स्वरूप को धाम तनुम शिवान शांतांग करो वह स्वरूप को शांत रूप से बनाए रखे आप मौक्रमी उत्क्रमण अशुभ माकार शरीर उत्क्रमण के द्वारा इसको अशुभ अशांत रूप ना करें आप अकल्याण रूप न प्रदान करें और अंतिम मंत्र आ रहा है जो सब स्थिति है सारी इंद्रिया प्राण की स्थिति कर रहे हैं तो प्राण ही सब कुछ स्थापित हो चुका है प्राण सेदम वशे सर्व त्रिवेय प्रतिष्ठित माते व पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा च विदेही प्राण से इदम वशे इदम सर्वम यंचित तत्सर्व प्राण से विषय इस लोक में सब और स्वरंगों में भी देवादियों के उपभोग रूप से जो कुछ भी है वह सब वैभव आप प्राण का स्वरूप है आपके अधीन ही है क्योंकि आपका स्वरूप है इसलिए आपके अधीन है जो आपके स्वरूप नहीं है वो आपके अधीन हो नहीं सकता है ना इसलिए जो आपका अपना स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद रूप है वो आपके अधीन है उसको ना कोई गुजार सकता है कुछ न कर सकता है जो आपके स्वरूप में नहीं है कौन शरीर आदि ये आपका स्वरूप नहीं है इसलिए आपके अधीन भी नहीं ये किसके अधीन है प्रारंभ कर्माधीन हो जाता है ये उसी का अधीन होगा ना जिससे जो इससे जन्म होगा जो इससे जन्म होगा उसी के अधीन ये चलते रहेगा इसीलिए कहते हैं कि जब प्राण का ही स्वरूप सारा जगत है तो प्राण क्या भी नहीं सारा कुछ जब चाहते हट जाए यहां से जब चाहे ईश्वर है ब्रह्म ज्ञानी योगी के अंदर आवरण नहीं है जब चाहे तब उसमें रहेगा छोड़ के निकल जाए दूसरे शरीर में चला जाए तो शरीर और पचास शरीर भी बना ले सीधे आ जाते ही नहीं आ जाते जैसे जैसे आप प्राण के स्वरूप में चले जाएंगे या अन्वय कोश पर प्राण में में पहुंचेंगे अगर प्राणायाम के तरह प्राण स्वरूप में प्रतिष्ठित होने लग जाएंगे सूक्ष्म प्राण स्वरूप में अपने आप सारी विधि सिद्धि स्वतः सिद्ध हो जाते हैं इसलिए इस लोक में परलोक में जो कुछ भी अपनी भोग्य भोक्त रूप में है वह सब कुछ आपका वश में है क्योंकि वो आपके स्वरूप ही है माता या पुत्रान रक्षसो इसे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा किया करती है ठीक उसी प्रकार से आप भी जो ना हम सब की रक्षा करें कैसे रक्षा करोगे मैं हमें चाहिए माता श्रीष्ठ पसीना खाना पीना कैसे चलेगा शरीर की रक्षा के लिए चाहिए ना साबुन की ये सब चाहे कहाँ से आएंगे तो इसीलिए कहते हैं श्रीष्ठ इन्हें साफ रहते ही दिमागी ना रहे तो क्या फायदा दिमाग फैल हो जाए सब रहते हुए क्या फायदा इसलिए प्रज्ञान छ विधे ही न और हमें जो है प्रज्ञा का प्रदान जरूर करना भले सब ना भी रहे प्रज्ञा रहेगा तो काम अपने आप निकाल लेगा नहीं प्रज्ञा भी है तो जेब में कोड़ी भी ना हो वो अकल से सब काम निकाल देता है है कि नहीं अरे बिछा मांगने की तरीके है, है बिना मांगे भी मिल जाएंगे ऐसे भी तरीके है अपने अपने तरीके से अपना अपना काम निकाल सकते यदि प्रज्ञा है तो तीसरे के प्रज्ञान प्रमुख को यह श्रेष्ठ प्रज्ञान किम भवना और अधिक क्या कहा जाए इसे एक अंतिम मंत्र के द्वारा स्थिति को पूरा करने जा रहे हो इस मुंडक का अंतिम मंत्र ये द्वितीय प्रश्न का मुंडक का नहीं द्वितीय प्रश्न का अस्मिन लोके प्राण वश है इस लोक में प्राण के वश में सर्वम इदम यंचित भोग जातम जो कुछ भोग स्वरूप है और सब कुछ जो है उसी के वश में उसी के अधीन इदम को यहाँ अश्विन लोके कर दिया इदम सर्वम है ना इदम को ही लेकर इस तरह से प्रत्यक्ष वाच्य को लेकर के अश्विन लोके और त्रिदिव बात तो स्पष्ट है है ना त्रिदिव तृतीय श्याम दिव्य स्वर्गारी लोकों में भी जो कुछ भी है वह भी सभी प्रतिष्ठितम देवादी भोग रक्षण देवादी भोग के योग्य पदार्थ हो तस्या पे प्राण एवं ईशिता रक्षिता प्राणी में सबका ईशिता है रक्षिता है किंतु उसी के वश में सब कुछ है अतो इसीलिए माता एवं पुत्रान आसमान रक्षस्व पाले स्व जैसे माता जैसे अपने पुत्रों की रक्षा करती है वैसे आप हम सबकी रक्षा करें तन निमित्ता ही ब्राह्म्य क्षात्रियाश्च श्रिया निमित्ता ही ब्राह्म्य साक्षात क्रियाश्च आपके निमित्त ही सकल ब्राह्म्य क्षात्र प्रसिद्ध जो धनादेश्वरी रूपा ब्राह्मण से प्रसिद्ध जो वेदादि ज्ञान आदि विशिष्ट रूपा ऋगादि मंत्र रूपा ब्राह्म्य श्रिया है ना ऋगादि मंत्र को ब्राह्मण रूप से कह दिया और छात्र से ऐश्वर्य को ले दिया टीकाकार ने स्पष्ट किया ना गादि मंत्र लोपा ब्राह्म्य श्रिय सामान्य योशी साई शरीर अमृता सदा मेरी शब्द है